पहर भूपनीत जागा आजु हम ही बड़ अचरज जाहु सुमंत्र जगा बहु जाए के जय का जो जाय सुपा गये सुबमन्त्र तव भयावन देखि भयावन् जात रा जनु नहे हेरा मन हो विपते विषाद बसेरा राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है हे सुमंत्र जाओ जाकर राजा को जगाओ उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे तब सुमंत्र रावले महा राजमहल में गए पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा उसकी ओर देख भी नहीं देखा भी नहीं जाता मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो पूछे को न उत्तर दे गए जय भवन भूप के कहि जय जीव बैठ भूप देख गए वो सुखाय सोच विकल मही पर वो मानहु कमर मूल परिहर सचिव सभीत कहे नहीं पूछे बोले अशुभ भरे शुभ छोछे पूछने पर कोई जवाब नहीं देता वे उस महल में गए जहाँ राजा और कई कई थे जय जीव कहकर सिर नमाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं चेहरे का रंग उड़ गया है जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कई कई बोली परिणराजशिनेदन से हे तुजान जगदीश राम राम रट भोर किया कह न मर राजा को रात भर नींद नहीं आई इसका कारण जगदीश्वर ही जाने इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते